उन्होंने कहा वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया ताकि आप खुश हों